mình mọi người சம்பத்ராம சம்பதாம் பகவத்கீதை பகவத்கீ சம்பத்ராம சம்பதாம் பகவத்கீதை பகவத்கீ ಅವರು ಇಂಥ ಪ್ರಸ್ತುತ तथातो क्या वर्तमान स्थिति जो है इसमें जीवन वासना बढ़ गया है जिसके मन में देश की वासना है उसके अनुसार वो काम करना अनुशासना का सारी किया है जब तक जीवन में अनुशासन नहीं होता तब तक किसी दिशा में प्रगति नहीं हो सकती एक मर्यादा में जीवन करना जब मनुष्य अपनी प्रार्थना के अनुसार चलता है तो न धर्म को मानता है न कानून को मानता है न दूसरे के सुख शांति पर विचार करता है स्वास्थ्य और भोग में इतना आदर्श हो जाता है इतना लोभित हो जाता है कि वो दूसरे की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता इसमें न व्यक्तिगत जीवन रहता है न जाति रहती है न बदलाव रहता है न प्रांत न रात न मानवता न विश्व ये स्वार्थ वासना और भोग वासना मनुष्य को श्रृंखल बना देती है उसके लिए हमारे की सिद्धि आवश्यक है आत्म सिद्धि आवश्यक है कोई भी पुलिस कोई भी और कोई भी कानून कोई भी सरकार मनुष्य को खुद अवस्थित नहीं रख सकती यदि उसके मन में स्वयं सुव्यवस्थित करने की प्रेरणा न आए ये जो हमारे धर्म है धर्म ग्रंथ है ये मनुष्य के हृदय में ही ऐसा संस्कार बैठाते हैं कि वो सुव्यवस्थित हो जाए धर्म का संस्कार हमारे मन में रहे तो धर्म के विरुद्ध जो काम है उनकी ओर से स्वयं विमुखता आ जाए धर्म जीवन में आवश्यक है और एक बात है कि यदि मनुष्य के जीवन में थोड़ा वीर न हो वीरता न हो तो अपने धर्म पर दृढ़ नहीं रहना है जो कष्ट सहन करके अपने नियम का धर्म का पालन करने के लिए तत्पर नहीं है उसके जीवन में आत्मबल कहाँ से आएगा ऐसे रास्ते से चलो जिसमें थोड़ा कष्ट उठाना पड़े अपने जीवन में ऐसे नियम रखो जिसमें थोड़ा कष्ट उठाना पड़े और वीरता आती है विस्तार से साहित्य में काव्य में जो वीर रस होता है उसका स्थायी भाव उत्साह होता है उत्साह जगाने के लिए कोई बोलने वाला चाहिए प्रैव्यम में नमस्कार नहीं तक तो कोई भी सकते है जिसके मन में उत्साह होता है वीरता होती है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है अब इस आत्म शुद्धि के लिए चित्त शुद्धि के लिए आवश्यकता किस बात की है वासना की निवृत्ति के लिए उपासना होती है और अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान होता है दोनों का विषय विभाग एक काम के लिए एक रोग पर एक औषधि दूसरे रोग पर दूसरे और फिर किसी किसी रोग पर दोनों औषधि मिला देते हैं योग हो जाता है तो इस रोगी को कौन सी औषधि देनी है या दोनों मिलाकर देनी है ये अधिकार के अनुसार निश्चय करना पड़ता है आपको हम भक्ति की बात सुनाते हैं प्रार्थना होती है उत्पृंखल उत्पृंखल माने उस पर कोई रोक टोक नहीं है वो बेखड़क कहीं भी दौड़ जाती है किसी का धन लेने के लिए किसी स्त्री पुरुष की ओर किसी से मारपीट करने के लिए किसी को पकड़ रखने के लिए मोह अनेक रूप धारण करती है ये वासना के रूप है वासना एवं संसार वासना का ही नाम संसार है तो धर्म जब जीवन में आता है तो वो पचास प्रतिशत वासनाओं को नियंत्रित कर देता है ये है ये धर्म है परंतु जब भक्ति आती है तो वो निन्यानवे प्रतिशत वासनाओं को नियंत्रित करते हैं निन्यानवे प्रतिशत वासनाओं को नियंत्रित करते हैं एक ईश्वर की वासना एक ईश्वर की उपासना हमारे मन में रहे धर्म में तो विकृति होता है ईश्वर की बात है अब देखो जीवन को यदि शुद्ध करना है तो पहली सीढ़ी है सदाचार की और उसके बाद दूसरी सीढ़ी है भक्ति भक्ति माता की भी होती है मातृदेवो भव भक्ति है पितृदेवो भव पिता की भक्ति है आचार्य देवो भव गुरु की भक्ति है और देश की भक्ति होती है परंतु भक्ति उस एक की होनी चाहिए जो माता में भी है पिता में भी है गुरु में भी है तो हमें किसकी भक्ति करनी है इस ज्ञान की आवश्यकता होती है केवल माला नाने का नाम भक्ति नहीं है और तो बड़ी बड़ी कूटनीतिक राजनीतिक सभाएं होते हैं और अपनी ओर से माना मंगा के लोगों के हाथ में दे देते हैं कि तुम सभा में पहनाना वो माला पहनाने में कोई भक्ति नहीं करते कभी जप भी करते रहते हैं और मन में दूसरों का बुरा करने का भी सोचते रहते हैं तो भक्ति के लिए एक बात यह है कि भजनीय के संबंध में निश्चय होना चाहिए जीवना भक्ति किसकी करनी है महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति विशिष्टाता कया मुक्त निकालने का जिसकी भक्ति करनी है उसकी महिमा को पहले जानो और जिसकी भक्ति करनी है उससे सबसे अधिक स्नेह होना चाहिए स्नेह माने हृदय की ध्रुति पिघलना हमारे हृदय में कोई कठोरता न रहने पाए जब हम हाथ में कोई चीज पकड़ते हैं और सोचते हैं कि ये गिर न जाए कोई चीन न ले जाए तो हमें अपनी मुक्ति कड़ी रखनी पड़ती है ऐसे ही जब आप अपने दिल में हम चाहते हैं ये बच्चों हमसे छूट न जाए गिर न जाए कोई छीन न ले जाए तो दिल को कड़ा करके उसको पकड़ना पड़ता है जब भगवान से प्रेम करना होता है तो उस चित्त में जो कठोरता है उसको मिटाना पड़ता है उसके लिए चाहिए स्नेह और जिससे हम बाकी जिसकी करना चाहते हैं उसकी महिमा का ज्ञान अपने ज्ञान और भक्ति का अंतर देखो ज्ञान तो दुश्मन का भी होता है आप अपने दुश्मन को जानते हैं कि नहीं जानते दुश्मन को जानते हैं और दुश्मन की भक्ति नहीं कर सकते जिसतक तक तत्व थी पद तत्वा ने कहा कि शत्रु का ज्ञान तो होता है परंतु शत्रु के प्रति भक्ति नहीं होती और जब भले मानुष का ज्ञान होता है तो हम न चाहें तब भी उसके प्रति श्रद्धा का उदय होता है और श्रद्धा बाद में भक्ति हो जाती है तो भगवान के गुण का ज्ञान होना चाहिए गीता में ले लो भक्ति कैसे होती है अहम सर्वस्व प्रभव न तत्सर्व प्रवर्तते इति मत्वा ईश्वर के बारे में थोड़ी सी जानकारी सारी सृष्टि के माता पिता स्वामी सबका संचालन वही करते हैं अंतर जाने सबके दिल की जानते हैं एक बात सर्वज्ञ है और सबका संचालन करते हैं सर्वशक्तिमान है ये दूसरी बात और परम प्रसाद है जो उनकी भक्ति करता है उसके हृदय में आते हुए भी बैठ जाते हैं और यदि वो बुरा काम करने के लिए चले तो इशारा भी करते हैं ये काम तुम्हारे करने का नहीं मेरा भक्त कहला करके जब तुम बुरा काम करोगे तो केवल तुम्हारी नहीं मेरी भी बदनामी होगी हृदय में भगवान का बैठना अपने को सत्कर्म के साथ सद्भाव के साथ जोड़ना ये जो आज सर्विस का विस्तार है जहाँ देखो वही कलम माँ बेटे में कलम पति पत्नी में कलम भाई भाई में कलम मित्र मित्र में विश्वास नहीं इस अविश्वास के युग में किसी के वचन का भी हो कोई विश्वास नहीं है और बड़े से बड़े स्थान पर जो लोग बैठे हैं वो कल कुछ कहते हैं आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं ऐसी अनियंत्रित प्रवृत्ति अनुशासनहीन प्रवृत्ति धर्महीन प्रवृत्ति क्यों आ गई इसलिए कि हृदय में ईश्वर का भय नहीं रहा ईश्वर के प्रति प्रीति नहीं रही और धर्म में निष्ठा नहीं रही हृदय में बैठ कर जो हमको रास्ते में चलाने वाली चीज थी वो छूटे वो भक्ति होती है कब जब हम ईश्वर की महिमा को ये बात आप समझ में रखते हैं अहम सर्वस्व प्रभाव मस्तक सर्वम प्रवर्तते सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से बैठे हुए भगवान संचालन कर रहे हैं और जीव और जीव के का निवासक स्थान जंत्रारूप जिस यंत्र पर जीव बैठा हुआ है वो अंतकरण दोनों के प्रवर्तक दोनों के संचालक भगवान है इसी मत्वा भजनते नाम बुधा भाव समन्वता पहले विद्वान पुरुष ये ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान प्राप्त करके भाव सहित मेरा भजन करते हैं देखो ये ज्ञान पहले भगवान का ज्ञान पहले और अच्छी बात है एक बात देखिए अब आप लोग व्यवहार में देखो कि आप प्रेम से किसी के साथ रहो और किसी की सेवा करो तो जितना जितना प्रेम बढ़ेगा जितनी जितनी सेवा बढ़ेगी जितना जितना सान्निध्य बढ़ेगा उतने उतना उसके बारे में ज्ञान बढ़ता जाएगा उनको कैसे सोना है उनको क्या खाना है उनको क्या रुकता है जो दूर रहने से पता नहीं चलता निकट होने से पता चलता है तो भक्ति से ज्ञान की वृद्धि होती है भक्तिया जाना यावाम यस्मितत्व तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त्या माम अभिजानाति जब भगवान की भक्ति करोगे तो सत्ता भगवान से ज्ञान पहचान बढ़ेगी अभिज्ञान मानो पहचान जितनी जितनी प्रीति करोगे उतनी उतनी पहचान भगवान की और बढ़ेगी भक्ति भगवान को जानने में साधन है और जानना भगवान की भक्ति में साधन है अब ये एक प्रकार का समन्वय हुआ भक्ति और ज्ञान दोनों परस्पर एक दूसरे के मददगार हैं एक दूसरे के बाहर नहीं है समन्वय की रीति क्या होती है समन्वय को ही पुराने शास्त्र की जो रीति है वो कहते हैं कि भी किन्हीं दो विषयों का समन्वय करना हो तो पहले दोनों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है फिर दोनों में विशेषता क्या है ज्ञान से भक्ति अलग क्यों है भक्ति से ज्ञान अलग क्यों है दोनों का अपना अपना विशेष क्या है फिर किन किन विषयों में दोनों मिलते हैं और किन किन विषयों में दोनों अलग रहते हैं पहले दोनों का सामान्य ज्ञान दोनों का विशेष ज्ञान और दोनों कहा मिलते हैं और दोनों में मतभेद क्या है और फिर मतभेद मिटाने का उपाय क्या है युक्ति क्या है और किस युक्ति से ये मतभेद मिट जाता है तो फैसला हो जाएगा पहले बयान तंखी हो लेगी उसके बाद फैसला हो जाएगा ये संस्कृत भाषा में बोलते हैं विषय संशय पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष और सिद्धांत इन पांच बातों के विचार से एक अधिकरण की निष्पत्ति होती है एक वस्तु को सिद्ध करने के लिए हमको किस विषय पर विचार करना है उसके स्वरूप में संशय क्या है और उसमें पूर्व पक्षी का क्या करना है उसका पक्षी का क्या करना है मैंने मुद्दे क्या बोलता है मुकाबले क्या बोलता है हाँ? और उसमें किस शंका का किस प्रश्न का किस समस्या का क्या समाधान किया गया है और सारे समाधान पर विचार करके सिद्धांत क्या बनता है ये है समन्वय की पद्धति समन्वय दो तरह का होता है एक क्रम समन्वय एक कम समन्वय एक पहले दूसरा पीछे ये क्रम हो गया सीढ़ी दर सीढ़ी तो ऐसे ही समन्वय होता है पहले शक्ति फिर ज्ञान हरिदो जन बिलो की अवधेता तो जाने गुण न हो पर प्रीति पर प्रीति हो नहीं प्रीति प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई यदि खगेश जल कहे चिकनाई या तो जाने गुण हो पर ज्ञान से भक्ति होती है एक ये हुआ और एक भक्ति से ज्ञान होता है ये हुआ और दोनों साथ भी रहते हैं इसका भी विचार करेंगे बात यह है कि दुनिया में जितना दुख है स्वार्थ की प्रवृत्ति है भोग में आसक्ति है स्वर्ग के लिए हुकूमत के लिए कुर्सी पे बैठने के लिए अनुचित आचरण है ये सब भगवान से विमुक्त होने के कारण वेद शास्त्र से विमुक्त होने के कारण हृदय में धर्म की प्रतिष्ठा न होने के कारण ये सारे दुख जो संसार के हैं ये ईश्वर और धर्म से विमुखता के कारण है इसलिए आओ गीता गीता के मैदान में और जिस मैदान में ये तो मैदान चीज है ना आपके ध्यान में होगा उपनिषदों को आरण्यक तो बोलते हैं वो अरण्य भूमि में उपजती है गंगा का किनारा हो पहाड़ हो जंगल हो बड़े बड़े अनुभवी पुराने महात्मा हो श्रद्धा से जिज्ञासु बैठ के पूछ रहा हो और समझ रहा हो अवैध भूमि में उपनिषदों का जन्म होता है उपभय गिरी नाम संगमे च नदी नाम दिया विप्रो ये देश का नाम है परंतु गीता अरण्य भूमि में नहीं निकलती है ये रण भूमि में निकलती है विलक्षण है कहा जंगल कहा गंगा का किनारा कहा पवन कुटीर कहा बताने वाले ऋषि और पूछने वाले विद्यासु और यहाँ प्रवृत्त सत्र संपात दोनों ओर से हथियार चलने को खड़े बस अब शस्त्र चलने वाले हैं अब आया अब आया अब आया और मृत्यु के सब तो खड़ी है संघर्ष है युद्ध है वैमनस्य है कथिता है एक दूसरे के प्रति उस तरह भूमि में गीता का अवतरण होता है यहाँ श्रोता रफी बना हुआ है मालिक और बच्चा सारथी है हर जगह बच्चा गुरु होता है नीचे बैठता है सिंहासन पर और श्रोता होता रहता है और बड़ी श्रद्धा के साथ वो श्रवण करता है यह महाराज श्रोता तो रखी है और बच्चा सारथी है इसका अर्थ है कि छोटे के मुंह से भी गीता सुन लो तो तुम्हारा काम कर जाएगा देखो संजय संजय तो धृतराष्ट्र से बहुत छोटे हैं वो भी सूत पुत्र हैं नौकर है धृतराष्ट्र के नौकर है संजय और उनको गीता सुनाते हैं और अर्जुन के सारथी हैं कृष्ण गीता सुनाते हैं अद्भुत है कहा अरण्य भूमि कहा रणभूमि और कहा पत्र संपा और कहा शांति कहा शांति कहा ऋषि महर्षि बड़े बड़े विद्वान तो गीता गीता आई हमारे व्यवहार की भूमि में और भी बहुत अंतर है जहाँ मीमांसा शास्त्र यज्ञशाला में होने वाले धर्म का विचार करता है देवी कैसे बनाई जाए देवता का आराम कैसे हो मंत्र कैसे करा जाए परलोक प्रधान धर्म का निरूपण करती है मीमांसा धर्मशास्त्र और गीता हमारे रोज रोज का जो धर्म है जीवन में जो करना करना है उसका निरूपण करते हुए गीता अब लोग भक्ति जब तक बड़ा छोटा नहीं बनेगा तब तक उसके प्रति भक्ति गिरेगी नहीं भक्ति गंगा है ये देखो कृपालता भगवान की सारथी हुए सारथी मदद भाषा सारथी बन गए बोले सस्ते बने वो कि तो झूठे बोले सस्ते हैं जो काल लिया जो नाटक कर रहे हैं और उसमें कोई त्रुटि नहीं होने पाएगी अच्छा तो पहली बार हमारी आज्ञा मानो और तीसरी आज्ञा सारथी मानता है दोनों सेना के बीच में हमारा रथ ले चलो जी हजूर जैसे बोलते हैं जो आज्ञा है ले जाकर अर्जुन ने कहा ये श्री कृष्ण जिनको लोग भगवान कहते हैं वो हमारी आज्ञा का पालन करते हैं कहीं के अंदर तो अभिमान का लेख भी नहीं देखो तो महात्म ज्ञान है यदि अभिमानी होता तो कहता चलो तुम बहुत आज्ञा देने वाले गए ये भगवान कहते हैं महाराज शिक्षा आज्ञा का पालन तब सब भगवान के प्रति भक्ति भक्ति बढ़ती है जब अर्जुन का उत्साह भंग होने लगता है तो एक पुरुषों से पूछताछ अर्जुन के अंदर करते हैं युवा आशिक को प्रवेश कर एक जवान आदमी हो तो उसके जीवन में उत्साह के लिए आशा के लिए आशावान होना चाहिए हमें सफलता मिलेगी और अपने साधन में दृढ़ होना चाहिए जीवन में उत्साह हो गए प्रशंसा की आशा हो दृढ़ता से लग जाए गीता में भक्ति और ज्ञान गीता की भक्ति भी बड़ी विलक्षण है वैसे भक्ति शब्द के प्रयोग अनेक अर्थों में गीता में मिलते हैं धीरे धीरे के नौ दिन सुनाना देखो एक गीता की भक्ति कौन सी माला पहनना हमने गीता में रुद्रा तुलसी पीला कपड़ा लाल कपड़ा सफेद कपड़ा काला कपड़ा बने चंदन आड़ा खड़ा कहीं नहीं इस ढंग का नाम रखा जाए साफ इस तरह की आनंद इस सरस्वती की तीर्थ कौन का नाम रखा जाए भाई भक्त का कौन का नाम वशिष्ठ है न देश भूषा का आग्रह है न नाम का आग्रह है न आड़े खड़े तिलक का आग्रह है भक्ति है हृदय की वृत्ति है ना एक हृदय की खास बनावट का नाम भक्ति है हृदय की खास बनावट है रसायन है रसायन जैसे रोग की निवृत्ति के लिए रसायन होता है ऐसे हमारे हृदय का निर्माण करने के लिए रसायन है कानून बना के लोगों का दिल नहीं बदला जा सकता भगवान की भक्ति भाव के लोगों का हृदय बदला जा सकता है पहला नमूना है भक्ति का पहले हम थोड़ा थोड़ा दोनों का अलग अलग परिणाम करेंगे और फिर दोनों को एक में मिलाना यत प्रवृत्तिर्भूतानाम जीन सर्विदम कथम कर्मणा समभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मनुष्य सिद्धि का अधिकारी है और देखो तो इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा नहीं है वो ज्ञान लो इसमें हिंदू मुसलमान का भेद नहीं है इसमें ब्राह्मण और खंडान का भेद नहीं है जिसमें स्वदेशी और विदेशी का भेद है न मजहब का भेद है न जाति का भेद है न स्त्री पुरुष का भेद है न राष्ट्र का भेद है मानव मनुष्य मात्र के लिए ये भक्ति है जो ईश्वर से पैदा हुआ है और जिसके मालिक स्वामी ईश्वर हैं वो अपने मालिक की अपने माता पिता की सेवा करने का अधिकारी है यहाँ तक कि जो विद्या का पुत्र है विद्या का कैसी भी हो परंतु विद्या का पुत्र यदि अपनी माता की श्रद्धा से भक्ति से सेवा करेगा तो जैसे एक पवित्र आत्मा को अपनी माता की सेवा करने से फल मिलता है वही फल विद्या के पुत्र को भी मिलेगा मतलब विद्या से नहीं है मतलब हृदय में श्रद्धा और भक्ति से है तो कोई भी मनुष्य हो चाहे वो किसी देश में किसी जाति में किसी मजाक में किसी लिंग में पैदा हुआ हो वो भक्ति का अधिकारी है मानव मनुष्य भक्ति का अधिकारी होता है अच्छा भक्ति तरीके कैसे जाए कौन सा काम करें तो भक्ति है मंदिर में बैठे आंख बंद कराए पेट की सीधी कराए मुंह में कुछ कुछ बुराए भक्ति कैसे होती है प्रकरणा समझ सिद्धिम मान रहे जो काम तुम कर रहे हो उस काम के द्वारा ये देखो कि भगवान की अभ्यर्था हो रही है कि नहीं दारू लगाते हो दारू लगाने में भी सेवा होती है हमारे महाराजा इस रास्ते से निकलते हैं हमारे गुरु जी इस रास्ते से निकलते हैं बात होना चाहिए हमारे पतिदेव अभी ऑफिस से आएंगे तो उनको कोई गंदी चीज न दिखे सफाई करना भी सेवा है भक्ति है स्वकर्मणा समभ्य उनके लिए वस्तु उपस्थित करना भी भक्ति है उनका पहरा देना भी भक्ति है उनको पढ़ के सुनाना भी भक्ति है जैसे उनको सुख पहुंचे वैसा करना भक्ति है वह व्यक्ति है आप जो काम कर रहे हैं इतना ध्यान रखने की बात है ये ईश्वर की दृष्टि से हो रहा है कि नहीं ये व्यक्तिगत सुख स्वास्थ्य के लिए हो रहा है ये पारिवारिक सुख स्वास्थ्य के लिए हो रहा है ये जातिगत सुख स्वास्थ्य के लिए हो रहा है ये मजाबी सुख स्वास्थ्य के लिए हो रहा है और ये क्रांति राष्ट्रीय अंतर्द्वीपीय किस उद्देश्य से हो रहा है अरे भाई सब में जो एक है उस प्रभु की सेवा के लिए ये काम हो रहा है भक्ति में प्रभु का अनुरोध है जैसे व्यक्तित्व है जा उनका हमारो साय हृदय कोई देश करूंगी भक्ति ऐसे होते मजहब में विरोध होता है और भक्ति में भगवान का अनुरोध होता है और योग में वृत्ति का विरोध होता है और ज्ञान में अविरोध होता है ज्ञान में किसी का विरोध नहीं है सबके सिर पे उसका हाथ है ज्ञान के बिना धर्म भी नहीं ज्ञान के बिना भक्ति भी नहीं ज्ञान के बिना योग भी नहीं वो सब में रह के भी सबसे निराला रहता है स्वकर्मा समय सिद्धिं आप जो काम कपड़े बना रहे हो इसके लिए तो सर्वात्मा प्रभु की सेवा करें तो सवाई प्रभु कहाँ मिलेंगे गीता का ईश्वर गीता का ऊपर वैकुंठ बाकी नहीं है वैकुंठ का तो नाम ही नहीं है गीता में गोलोक का भी नहीं है साकेत का भी नहीं है भगवान का नाम है वहाँ नाम है अहम है नाम है मया है मध्यम है मत है मई है मामा है मई है भगवान है भगवान है परंतु वो किस खास जगह में रहते हैं ये नहीं है वो किस खास समय में रहते हैं ये नहीं वो किस खास रूप में रहते हैं तो ये भी नहीं है भगवान है गीता में आप देख लो रूप भगवान की भक्ति जब प्रवृत्ति भूताराम जिसकी वजह से हमारी आंख देखती है जिसकी वजह से नाक सुनती है जीप बोलती है काम सुनता है आप काम करते हैं पाँव चलते हैं दिल में प्यार आता है बुद्धि में विचार आता है हमारे जीवन में सबके जीवन में जितनी प्रवृत्तियां हैं उनका मूल उत्सव मूल उद्गम वो भगवान है उसी को बोलते हैं स्रोत्र से स्रोत्र उसी को बोलते हैं चक्षु उसी को बोलते हैं मन को मना वो हमारी आँख आँख की आँख है वो हमारे मन का मन है हमारी वाणी की वाणी है यथा प्रवृत्ति नाम सबका संचालन वही करता है बिना उसकी सत्ता के एक सत्ता भी नहीं हो सकता सर्वमिदम कथम जैसे कपड़े में सूप होता है वैसे ताना और बाना इस संसार का ताना और बाना दोनों वही है अब देखो भगवान के इस स्वरूप को देखोगे तो ज्ञान को ज्ञान का कहीं भी विरोध आपको नहीं बने भगवान सर्वात्मा है भगवान सर्वात्मा है और भक्ति उस सर्वात्मा भगवान की है जब भगवान को आप एक कोने में बैठा दोगे तो उसकी भक्ति में कभी ज्ञान का विरोध आ सकता है जब ज्ञान आपको छोटी चीज का होगा पूर्णता का नहीं होगा तो वो भक्ति के विरुद्ध कर सकता है ज्ञान छोटा होगा तो भक्ति का विरोध करेगा और भगवान को छोटी जगह में बांधोगे तो ज्ञान का विरोध हो जाएगा इसलिए यथ प्रवृत्तिर्भूतानाम जैन सर्विदम तथम ऐसे ज्ञान हुआ कौन सा ज्ञान क्या हुआ यथा प्रवृत्ति भूतानाम जैन सर्वमिदम तथम ये तो हुआ ज्ञान और स्वकर्मा समर्प्य और अपने कर्म के द्वारा भगवान की पूजा ये हुई भक्ति अब इससे मिलेगी क्या मिलेगा क्या सिद्धि और किसको मिलेगी तो मनुष्य को तो एक ज्ञान ऐसा होता है जो भक्ति का मददगार होता है जितना जितना भगवान को जानोगे उतना उतना भगवान से प्रेम बढ़ता जाएगा एक भक्ति ऐसी होती है कि जितनी जितनी भगवान की भक्ति करोगे उतना ही उतना भगवान के बारे में जानकारी बढ़ती जाएगी और एक ज्ञान ऐसा होता है भक्ति जिससे अभिन्न होती है एक भक्ति ऐसी होती है ज्ञान जिससे अभिन्न होता है और भगवान ऐसी वस्तु है भाई उसको ज्ञान कहें भक्ति न कहे तो पूर्ण नहीं रहता छोटा हो जाता है और उसको भक्ति कहे ज्ञान न कहे तो छोटा हो जाता है तो भक्ति और ज्ञान दोनों का लक्ष्य है भक्ति और ज्ञान दो मार्ग हैं एक बार सूर्य बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज भक्ति बड़ी है कि ज्ञान बड़ा है तो बोले की भक्ति बड़ी है था वेदांति उसने कहा महाराज आपने तो भक्ति को बड़ी कर दिया तो ज्ञान क्या है बोले बेटा ज्ञान में छोटे बड़े का भेद नहीं होता ज्ञान में छोटे बड़े का भेद नहीं होता है और भक्ति सबसे बड़ी है भक्ति सबसे बड़ी है बोले महाराज भक्ति सबसे बड़ी है तो भक्ति तो से भी कुछ बड़ा होता है कहाँ तो होता है और तो भक्ति से बड़ा क्या होता है तो भगवान होते हैं जिनकी भक्ति की जाती है वो भक्ति के आराध्य हैं भक्ति के पूज्य हैं धर्मीय है तो सबसे बड़ी भक्ति भक्ति से बड़े भगवान ज्ञान से बड़ी भक्ति भक्ति से बड़ा ज्ञान ये दोनों परस्पर ऐसा मिल के चलते हैं अब देखो एक रहस्य की बात सुनाते हैं ये भक्त लोग जिस ज्ञान तत्व का प्रयोग करते हैं इसका मतलब ईश्वर के ज्ञान से कर्म दयालु है भक्त का पक्षपाती है उसके ज्ञान को भक्त लोग ज्ञान करते हैं तो वो ज्ञान भक्ति का मददगार होता है और ये निर्गुनिया लोग जो है ये लोग ọchabụdo aụtasụ ar ọrapụ ga ọa tụ rd aaeea ak jiụ e aụ eaaka ụwụg ụ asi nobiee ụtar oo भक्त लोग ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं सगुण परमेश्वर के ज्ञान के अर्थ में और अद्वैत वेदांति ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं जहाँ आत्मा और ब्रह्म की एकता होती है निर्विशेष वस्तु के ज्ञान को ज्ञान करते हैं दोनों के शब्दार्थ में भेद है तो देखो भाई यदि आपको मुक्ति चाहिए सबको निर्विशेष ज्ञान के बिना अंत्य ज्ञानाम नमस्ते निर्विशेष ज्ञान के बिना निर्धर्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती उसमें ज्ञान परम स्वतंत्र है मुक्ति देने में और जहाँ सगुण का ज्ञान प्राप्त करना है सगुण का दर्शन सगुण का साक्षात्कार तो सगुण के प्यार में भक्ति स्वतंत्र है उसमें निर्गुण ज्ञान निर्गुण ज्ञान भक्ति में उपयोगी नहीं है सगुण ज्ञान से भक्ति होती है और निर्गुण ज्ञान परम स्वतंत्र है वो बिना कर्म के बिना उपासना के बिना योग के मुक्ति देने में समर्थ है तो सब दोनों का विषय अलग हो गया और फिर तो अलग अलग जिसका हृदय कोमल है जो भगवान का नाम सुन के उनका रूप सुन के उनका गुणानुवाद सुन के उनका सौंदर्य का रूप सुन के जिसका हृदय पिघल जाता है और भगवान ही भगवान के हृदय में बीच में रखते हैं रोमांच हो रहा है शरीर में आंखों में आंसू आ रहे हैं कंठ गदगद हो रहा है हृदय द्रवित हो रहा है भक्ति में मत हो रहा है जिस कोमल हृदय का जो पुरुष है स्त्री है उसको भक्ति के मार्ग से चलना चाहिए और जिसका हृदय नाम सुन के रूप सुन के गुण सुन के सौंदर्य बाधु में सुन के भी द्रवित नहीं होता आंख आंसू तो नहीं आते शरीर में रोमांच नहीं होता कंठ गर्गद नहीं होता वो अद्भुत चित्त अधिकारी है उसके लिए ज्ञान का उसके लिए ज्ञान का मार्ग होता है और महाराज दोनों हो तो दोनों तरह का हो तो सतत भक्ति करते चलो और ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करो तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने सगुण ईश्वर की प्राप्ति में भक्ति स्वतंत्र है और निर्गुण निर्विशेष निर्धारक परमात्मा की प्राप्ति में तत्व ज्ञान स्वतंत्र है और ज्ञान की प्राप्ति में भक्ति करण को शुद्ध करती है और भक्ति की प्राप्ति में ज्ञान भजनीय के स्वरूप को प्रकट करता है इसलिए दोनों अपने अपने विषय में स्वतंत्र हैं एक और आपके पास संपन्न और विचार में निपुण जो होता है वो तत्व ज्ञान का अधिकारी होता है और जो श्रद्धालु होता है वो भक्ति का अधिकारी होता है भक्ति में बार बार बार इच्छा का वृत्ति चोराई जाती है और तत्व ज्ञान में एक श्लोक में प्रमाण में समय का प्रमा जहाँ हुई प्रमेय की प्रमा जहाँ ठीक ठीक प्रमा हुई वहाँ ज्ञान की निवृत्ति हो जाए चोट में अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान का फल है भक्ति और भक्ति का फल है अपने इष्टदेव की प्राप्ति भक्ति का फल है अपने इष्टदेव की प्राप्ति और बारंबार प्रेम से भगवदाकार वृत्ति को दोहराना है उसका स्वरूप और श्रद्धा है उसका और तत्व ज्ञान जो है उसमें समदवादी साधन संपन्न व्यक्ति की प्रमाण मूलक प्रवृत्ति है और यथार्थ वस्तु की प्रमा है और प्रमा हो जाने के पश्चात अज्ञान की निवृत्ति मोक्ष है परंतु ये दोनों दोनों में नजर जा रहा है यदि भगवान के मार्ग में चलना है तो बिना भक्ति के भगवान के मार्ग में नहीं चल सकते और यदि भगवान को जानोगे नहीं तो भक्ति किसकी करोगे इसलिए देखो भगवान कहते हैं भक्ति करोगे तो बुद्धि योग मिलेगा योग गीता में मज्जिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत नित्यम दुष्यंति चरणंति चेषा सतत युक्ता भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तां येन मामुपजान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अपना ज्ञान और अपना विचार मुझे मेरे लिए दियो मर्ग तक दूसरे को समझाओ और समझो एक दूसरे को मेरी चर्चा सुनाओ और सुनो और उसमें संतोष मानो उसमें रम जाओ भगवान कहते हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए मैं उन्हें कुछ योग देता हूँ और ज्ञान का पीठ लेकर के भास्वाम परम प्रकाशनाथ ज्ञान जीत लेकर के उनके अंधकार को दूर कर देता हूँ उनके हृदय में बैठ कर तो मस्जिदता मध्य हृदय का परस्परम कपयंत चुनाव तुष्यंती की यहाँ तक करती है और शेषा भगवान संसार्थम उन पर होती है भगवान की कृपा और ज्ञान दीप दिखा करके अज्ञान को दूर कर देते हैं भगवान बुद्धि देते हैं करो जो भक्ति मिलेगा ज्ञान ये ये हो गया अब दूसरी ओर देखो मस्जिद होने से बुद्धि योग मिलता है कि बुद्धि योग मिलने से मस्जिदता होती है तो मस्जिदता मदगत अपना बदान बुद्धि योगन करो मन लगाओ बुझने मैं देता हूँ बुद्धि योग और दूसरी जगह बोलते हैं गीता नहीं बुद्धि उपाश्रित्या मस्तिष्क प्रसंभव समझदारी का आश्रय हो समझदार बनो बुद्धि योग करो तब तुम्हारा मन मुझ में लग जाएगा मुझ में मन लगाओगे तो मुझको समझोगे और मुझको समझोगे तो मुझ में मेरा मन लगेगा अब गीता का उत्तम उपसंहार मस्तिष्क मन बना मन भक्तों

इसका नाम है ज्ञान इसका नाम है ज्ञान ज्ञान ज्ञान अब उसके बाद है मन मना हो मधुवस्तो मध्याजी माम मामिकम सर्वम ब्रज अहम तो सर्वपापी भी हो अच्छा गीता में अर्जुन भाषा की ज्ञानी है ये बात रहने श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा तस्वीर अज्ञान सम्मोह कर्णस्य धनंजय अर्जुन क्या तुम्हारा ज्ञान नष्ट हुआ नष्टो मोह स्मृत रहता नष्ट हो गया वो तो स्मृति मिल गई आप करोगे क्या तो करीब के वचन करो भक्ति आ गई करीब के वचन करो ये भक्ति आ गई अब तो अब आठ नौ दिन तक इस विषय पर चर्चा करना है इसलिए आ गई तो और गर्व करने की कोई जरूरत नहीं गर्व